Oh. मातृशक्ति अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है समस्त साधनों में से एक साधन ईश्वर है जैसा ईश्वर हमारे जीवन की कृत कृत्यता का सफलता का साधन है उसके तुल्य समान कोई भी अन्य साधन नहीं है क्या समझ में आया आपको जीवन को सफल जीवन को सफल बनाने के अनेक साधन हैं उन साधनों में से जैसा ईश्वर उत्कृष्ट महान महत्वपूर्ण साधन है ऐसा कोई भी साधन अन्य नहीं है आप आत्मनिरीक्षण करें क्या कभी ऐसा निर्वाचन ऐसी काट छांट कभी करके देखी कि ईश्वर हमारे जीवन को सफल बनाने का जैसा साधन है ऐसा और कोई नहीं है या करके देखा कभी यदि नहीं देखा तो आप नहीं जानते कि उत्कृष्ट साधन ऊंचा साधन क्या है और मध्य कोटि के क्या है और निम्न कोटि के क्या नहीं जानते एक प्रसंग में बात सुनी होगी नहीं सुनेंगे जी उन्होंने नहीं सुनी जैसा ईश्वर हमारा हित चाहता और करता है ऐसा कोई भी नहीं चाह सकता ऐसा कोई भी नहीं कर सकता अब क्या समझ में आया क्योंकि ये तो याद करवाने की बात है धारावाही बोलने से आपको एक बात भी शायद याद ना रहे और समझने समझाने की शैली से आप पकड़ सकते हैं बात को उसका फिर प्रयोग भी कर सकते हैं इन बातों को जितनी बार दोहराए और दिन में कितनी बार दोहराए वर्षों तक दोहराते चले जाइए आवृत्ति करते चले जाइए इनकी आवृत्ति की कोई सीमा नहीं है आप करते जाइए लाभ होता चला जाएगा आवृत्ति छोड़ दी तो लाभ होना बंद हो जाएगा आत्मनिरीक्षण के लिए क्या हम यहाँ जो उपस्थित हैं क्या ये समझ पाए या मन में ये बात बैठी कि जैसा ईश्वर हमारा हित चाहता है उस स्तर पर अन्य व्यक्ति हमारा हित नहीं चाह सकता और न ही हमारा हित कर सकता यदि नहीं जाना हो इस बात को तो आज समझ लें देखिए आप जिन बालकों को माता पिता पढ़ाते लिखाते और वो अपना कार्य में लगे रहते हैं बालक बालिकाएं उनको कभी भी समझाने का प्रयास नहीं किया प्रयत्न नहीं किया कि माता पिता आदि का क्या मूल्य है आपके लिए माता पिता ने क्या कुछ किया कितना तन मन धन लगाया कितने कष्ट सहे कितना समय लगाया तो उस बालक के दिमाग में माता पिता का मूल्य कुछ भी समझ में नहीं आता बताइए आता है क्या नहीं आता आता ही नहीं समझ इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को नहीं समझाया गया उसमें समझा नहीं कि ईश्वर का क्या मूल्य है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता इसलिए हमारे जीवन को सफल बनाने के जितने साधन संसार में हैं, उन सब साधनों से उत्कृष्ट ऊंचा साधन कृत कृत्यता बनाने वाला साधन जैसा ईश्वर है वैसा कोई कोई साधन ऐसा किसी बात को समझना और उसका फिर प्रयोग करना ये आवश्यक है यदि आपने ईश्वर के मूल्य को समझ लिया और उसका फिर प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूपेण आपको सफलता मिलेगी एक प्रसंग प्रकरण में उपस्थित है कल चलता था वो प्रसंग था कि ईश्वर के और हमारे पांच संबंध हैं यद्यपि संबंध और भी हैं इन पांच की चर्चा है संबंध और संबंधी को जो नहीं जानता वो व्यक्ति उन्नत नहीं होता मनुष्यों के साथ माता पिता आचार्य गुरु समाज राजा उनका और हमारा जो संबंध उचित है यदि न जाना जाए उसका उपयोग नहीं किया जाए तो उन्नति नहीं होगी पशुओं से पशु पक्षी जो प्राणी है उनसे हमारा संबंध क्या है और उनके साथ हमारा क्या संबंध रहना चाहिए और उनसे हम क्या क्या उपयोग ले सकते हैं हम उनको क्या सहायता दे सकते हैं तो भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती इसी प्रकार से ईश्वर के जो हमारे संबंध है उनको न जाना जाए और उचित रूप में ईश्वर के साथ व्यवहार वैसा न हो तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती वेद में ये संबंध ईश्वर ने बताए त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक कृतो बभूवी थ त्वम ही तू ही हे ईश्वर तू ही हमारा सबका पिता है ये एक संबंध दोनों माता और तू ही हमारी माता है अंतर देखिए आप लौकिक माता पिताओं का जो संबंध है वो अनित्य है और उसमें परिवर्तन होता है क्या परिवर्तन जो आज हमारी माता है कभी हम उसकी माता है वो हमारा पुत्र है जो आज हमारा पिता है कभी हम उसके पिता है वो हमारा पुत्र है ये संबंध है लौकिक संबंध अनित्य है और परिवर्तित होते रहते हैं परंतु परमात्मा की और हमारे संबंध परिवर्तित नहीं होते समझ में आया नहीं आया क्या अंतर है लौकिक माता पिता आचार्य राजा के जो संबंध है वो अनित्य होते हैं और उनमें परस्पर परिवर्तन होता रहता है कभी हम उसके राजा हैं वो हमारी प्रजा है कभी वो हमारा राजा है हम उसकी प्रजा है कभी हम उसके गुरु हैं कभी हमारा वो गुरु है पर परमात्मा के साथ ये संबंध ऐसे परिवर्तित नहीं होते समझ में आ गई बात या नहीं आई अब तुलनात्मक अध्ययन जैसा लौकिक माता पिता आचार्य राजा से प्रभावित व्यक्ति रहता है उतना ईश्वर से प्रभावित पराय नहीं रहता दोहराओ क्या भूल हो रही है नहीं आई बात समझ क्या भूल हो रही फिर दोहराता हूं जैसे माता पिता गुरु से और फिर राजा से व्यक्ति प्रभावित होता है उनसे उनके साथ व्यवहार करता है उचित ढंग से करता है उनसे लाभ उठाने का ढंग बनाता है ऐसे ईश्वर के साथ वो व्यवहार नहीं करता बताओ करता है या नहीं करता जी तो ईश्वर इतना भोला वाला नहीं है आप उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करें आपकी उन्नति में सदा सहायता देता रहे उन लोगों का ईश्वर इतना भोला होगा जो ईश्वर को ठीक नहीं समझ पा रहे एक रोचक बात सुनाऊ कश्मीर में हम गए तो कश्मीर में एक श्री शंकराचार्य जी का मंदिर था उसमें वो वो घंटी या टाल बोलते हैं बनी हुई होती और एक व्यक्ति उसमें वो लेके हाथ में और उसको टाल को बजाता जा रहा है टन टन और गाता क्या है इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी अब ईश्वर को भोला बाबा मान रहे इतना भोला बाबा है इनका ईश्वर उसको चाहे जो मना ले चाहे जो करवा ले विशुद्ध वैदिक ईश्वर में ये बातें नहीं होती माता में मोह आता है ज्ञान के कारण बच्चे के लिए पिता में मोह आता है पक्षपात करता है धृष्टराष्ट्र ने जैसे विनाश कर दिया अपने दुर्योधन के मुंह के कारण ये पाप की एक चीज है इसको बोलते हैं स्वस्वामी संबंध मैं और मेरे से पाप होते मैं और मेरे के कारण से दुनिया भर के पाप होते या नहीं होते ईश्वर में ये नहीं है यद्यपि तीनों काल में हम उसके पुत्र हैं फिर भी ये मोह ये पक्षपात बुद्धि ये नहीं कोई चाहे कि मैं उल्टे और सीधे कार्य करता रहूं और ईश्वर को मना के मां की तरह अपनी ओर खींच लू ये नहीं हो सकता आपने ये समझने का प्रयास किया हमारे ये नित्य संबंध है लौकिक अनित्य संबंध है दूसरी बात आपने समझने के लिए ध्यान दिया होगा कि जैसे व्यक्ति लौकिक माता पिता आदि से प्रभावित होता है उनके साथ व्यवहार करता है वैसे ईश्वर के साथ नहीं योगियों को छोड़ दी योगी करते हैं तो ईश्वर का और हमारा संबंध अनादिकाल से माता पुत्र का चला आया पिता पुत्र का उसी प्रकार आचार्य शिष्य का उपास्य उपासक और राजा और पंडित अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा इसकी परिसमाप्ति नहीं है ये संसार प्रवाह से अनादि है प्रवाह को समझना के लिए एक बार होना फिर हट जाना दो बार फिर वही रूप आ जाना फिर हट जाना नदी का पानी कभी वर्षा काल में देखा हो अभी वो पानी चलता है फिर वो रुक भी जाता है तो काला अंतर में वर्षा होने पर फिर नदी का प्रवाह चलता है फिर रुक जाता है इसको कहते प्रवाह से अनादि क्या समझ में आया ये सूर्य हमारा है ये बना हुआ है ये बिगड़ जाएगा काला अंतर में ईश्वर फिर बना देगा फिर बिगड़ जाएगा फिर बना देगा इसकी कोई आदि नहीं है सूर्य कब से बनना आरंभ हुआ इसका कोई आदि नहीं बनना बिगड़ना बनना बिगड़ना ये ऐसे ही चलता रहेगा रुकेगा भी नहीं दो प्रकार के पदार्थ होते हैं एक स्वरूप से अनादि और एक प्रवाह से अनादि दोहराओ शब्दावली को तो दोहरा लो कम से कम स्वरूप से अनादि और प्रवाह से अनादि एक परिवर्तन रहित वो एक तब्दीली उर्दू में वो एक परिवर्तन नहीं जिनमें वो अनादि पदार्थ ऐसा एक ईश्वर है वो एक परिवर्तन नहीं है ईश्वर में कभी पतला कभी मोटा कभी घटना बढ़ना कोई परिवर्तन नहीं इसको कहते हैं स्वरूप से अनादि कोई परिवर्तन होने वाला नहीं जीवात्मा भी ऐसा ही हम भी ऐसे ही शरीर नहीं आत्मा इसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता पर सत्वर रजतम इसको प्रोटीन बोले आप उनके अंदर ये परिवर्तन पैदा होना फिर बढ़ जाना फिर घट जाना फिर छिन्न भिन्न हो जाना फिर परमाणु रूप में हो जाना फिर परमाणु से फिर स्थूल रूप में आ जाना ये प्रकृति में ये परिवर्तन होता अब तो समझ में आया स्वरूप से जो कट कोई परिवर्तन नहीं और एक परिवर्तनशील दोनों तरह के अनादि पदार्थ तो ये ईश्वर के साथ हमारे जो संबंध है उनको जानना अब माता पिता का कुछ मैंने थोड़ा सा बतलाया अब समय के अनुसार समझ रखिए ये बात यद्यपि शीघ्र समझ में नहीं आएगी जैसे लोक में गुरु हमको विद्या पढ़ाते हैं आचार्य गुरु सिखाते हैं ऐसे ईश्वर भी हमारा गुरु है ऐसे ही सिखाता है प्राय जस्ती कम है जस्ती आपको भी नहीं जस्ती होगी शायद क्या जस्ती है कुछ कुछ आप ये मानते होंगे भाई कुछ कहते हैं तो कुछ होगा ही कैसे है इसको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ईश्वर वैसे ही सिखाता पढ़ाता है जैसे माता पिता और गुरु सिखाते हैं गुरु है हमारा योग दर्शनकार ने एक बात कही पूर्वे शांति गुरु काले नन्व छेदा ईश्वर की चर्चा है उसने ईश्वर का लक्षण बताया कुछ लोग कहते हैं ईश्वर तो कल्पना है मान लो डराने के लिए ईश्वर को मान लो है हुआ कुछ नहीं ये कहते कुछ लोग डराने के लिए समाज में उसका प्रभाव डालने के लिए कहते भाई ईश्वर है दंड देता है समाज डरता रहेगा कुछ पापों से बचेगा ऐसे कहते नहीं ईश्वर एक पदार्थ है ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक चीज है कल्पना नहीं इसलिए दर्शनकार ने बात कही ईश्वर है कैसा कहने लगे ये ईश्वर में गुण है और ये ईश्वर में गुण नहीं है स्पष्ट है वेदों में भी स्पष्ट है दर्शनों में भी स्पष्ट है उपनिषदों में स्पष्ट है ईश्वर एक पदार्थ है ईश्वर एक वस्तु है ईश्वर एक चीज है कल्पना नहीं है कैसी चीज है आप ये भी तो जानना चाहेंगे कोई दृष्टांत तो होना चाहिए जैसे महान गुरु वेदों का विद्वान भौतिक विज्ञान को पढ़ाने वाला गुरु भौतिक वैज्ञानिक है जैसे वो गुरु है ऐसा ही ईश्वर भी गुरु है अब तो समझ में आया होगा कुछ क्यों जी क्या समझ जैसे भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान को पढ़ाने वाले गुरु है ऐसे ईश्वर भी इन्हीं जैसा गुरु है ये गुरु चेतन है क्या समझे आप दोहरा लो भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले वेदों को पढ़ाने वाले ये हमारे चेतन है ईश्वर भी ऐसा ही चेतन है ये दृष्टांत जैसे ये चेतन गुरु है ईश्वरीय चेतन अंतर ये एक देशी है स्वदेशी शरीर में परमात्मा सर्वव्यापक चेतन है अंतर दोनों वो सर्वव्यापक चेतन है ये एक देशी चेतन है और ईश्वर सर्वज्ञ है और ये अल्पज्ञ है आत्मा हम थोड़ा सा जानते हैं उसको भी फिर भूल जाते हैं पर याद रखना ईश्वर न तो भूलता है और न नई चीज याद करता है दोहरा लो नया ज्ञान विज्ञान ईश्वर का कभी बढ़ता नहीं है और पुराना ज्ञान विज्ञान नष्ट नहीं होता दोहरा लो क्या कहा हमने नया ज्ञान ईश्वर को कभी उपलब्ध नहीं होता नया ज्ञान ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं होता और पुराना जो ज्ञान है उसका वो कभी भी घटता नहीं विस्मृति नहीं होती अब तो समझ में आए बड़ा भारी अंतर है वैज्ञानिक कैसे विषय में घबराते क्या कहते ये क्या ऐसा व्यक्ति है जिसका न तो ज्ञान बढ़ता है और न ज्ञान घटता है और सब कुछ जानता है देखिए एक सेकंड में विश्व में कितनी क्रियाएं होती होंगी जीवात्माओं के मन में वाणी में शरीर में क्या समझ में आया क्षण भर में सेकंड में मन वाणी शरीर से कितनी चेष्टाएं होती होंगी पशु पक्षी कीट पतंग मच्छी और सब कुछ ले लो कितनी चेष्टाएं होती होंगी उनके कितने कर्म होते होंगे शुभ अशुभ बुरे और अच्छे कितने का फल दे चुका है ईश्वर कितने का देना बाकी है बात समझ आई कैसे जानता होगा वो ये बात है आश्चर्य इसका समाधान वो कर नहीं पाते तो घबराते कहते छोड़ो इस, इस उसमें मत पड़ो <laughs> जो कुछ दिखता उसे लाभ उठा लो इसलिए ईश्वर का जो ज्ञान है वह और व्यक्ति के ज्ञान में अंतर अंतर को थोड़ा सा समझ हमें किसी विषय में नितांत नहीं जानते जानते ही नहीं भूमि के 20-30 किलोमीटर नीचे क्या है हम नहीं जानते पर ईश्वर के ज्ञान में कोई ऐसा पदार्थ नहीं था न है न होगा जिसको ईश्वर ने जानता तीनों काल दोहरा लो है हाँ जी या थक गए बात सुनते सुनते दोहराओगे तो नींद नहीं आएगी आलस्य नहीं आएगा और याद हो जाएगा क्या समझ में आया जीवात्मा के और ईश्वर के ज्ञान में अंतर हमारा गुरु है ये प्रकरण चल रहा है और उसके ज्ञान की स्थिति देखिए आप तो ईश्वर के ज्ञान में कोई पदार्थ ऐसा नहीं रहता जिसको ईश्वर किसी काल में न जानता हो पर हमारे ज्ञान में तो हजारों पदार्थ ऐसे हम बिल्कुल नहीं जानते अंतर दोनों के ज्ञान में एक बात दूसरी बात और सुनिए ईश्वर के ज्ञान में भ्रांति नहीं होती और हमारे ज्ञान में भ्रांति होती है हाँ, झोल भोले में रस्सी पड़ी है मुड़ी थोड़ी बाहर निकले और कहने के सांप पड़ा है लाठी ले आओ मारेंगे ये करेंगे भाग जाओ ईश्वर के ज्ञान में ऐसी भ्रांति सांप को रस्सी समझना या रस्सी को सांप समझना ऐसा ज्ञान किसी भी विषय में ईश्वर का नहीं होता जीवात्मा का होता है अंतर दोहराव क्या अंतर होता है जीवात्मा को किन्हीं विषयों में भ्रांति होती है ईश्वर के ज्ञान में किसी विषय में भ्रांति विपरीत ज्ञान को भ्रांति कहते हैं भ्रांति ये अंतर वो ईश्वर गुरु कैसा है ये आप समझ रहे हैं तीसरी बात और सुन लीजिए ईश्वर के ज्ञान में कभी संशय नहीं होता संशय क्या मतलब ये है या ये है ये रस्सी है या सांप है इसको संशय बोलते हैं ये झूठ है या मनुष्य अंधेरे में ईश्वर के ज्ञान में कभी किसी विषय में संशय नहीं होता हमारे ज्ञान में संशय होता अंतर ईश्वर के ज्ञान में अंतिम निर्णयात्मक ज्ञान होता है संशय होता ही किसी विषय में हमको थोड़ा सा ज्ञान होता है पूरा नहीं होता ईश्वर के ज्ञान में किसी पदार्थ का थोड़ा ज्ञान नहीं होता क्या कितने अंतर बताए मैं ये देखो उंगलियां कितने अंतर बताए पहला अंतर क्या बताया नहीं और कुछ होगा ना ना कोई ऐसा पदार्थ कभी नहीं होता जिसको ईश्वर न जानता हो जीवात्मा के बहुत पदार्थ ऐसे ही रहते हो नहीं जानता बिल्कुल नहीं जानता लेश मात्र दूसरा अंतर भ्रांति विपरीत ज्ञान रसी को सांप सांप को रसी ये विपरीत ज्ञान ये भ्रांति ईश्वर को कभी नहीं होती हमको होती है तीसरी बात हमें विविध विषय में संशय होता है संदेह होता है ईश्वर के ज्ञान में कभी संदेह नहीं होता चौथी बात बताओ किसी विषय में आधा पौना चौथाई जानते हैं हम पूरा ज्ञान नहीं करते ईश्वर में कभी आधा पौना ज्ञान नहीं होता क्यों वासुदेव जी नींद आ रही है क्या है, है ना कुछ आई कोई बात समझ में इसलिए ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र हैं ईश्वर हमारा पिता है हम उसके पुत्र हैं ईश्वर हमारा गुरु आचार्य है हम उसके शिष्य हैं और ईश्वर हमारा उपास्य है हम ईश्वर के उपास्य है अब इन संबंधों को जो जानता है और ईश्वर के साथ उचित व्यवहार करता है ईश्वर उसको इतना ज्ञान इतना आनंद देता है वो कृत कृत्य हो जाता है ऐसा जानना चाहिए अब विराम